कह गृध बचन धर धीरा सुनहु रामभन् जन भव भीरा नाथ दशान यह खल जनक सुता हरि लय दक्षिण देशे गयु गुसाए बिलपतयते कुर रे के नाए दरस लागे प्रभु राखे प्राण चलन चहत अब कृपाण धारा तब धीरज धर कर गिद्ध ने यह वचन कहा हे भव जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए हे नाथ रावण ने मेरी यह दशा की है उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है हे गुसाई वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है सीता जी कुररी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी हे प्रभो मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे हे कृपा निधान अब ये चलना ही चाहते हैं राम कहा तनु राखहुताता मुख मुस्काए ते ही बात जाकर नाम मरत मुखयावा मुकुत हो श्रुति सो सोम लोचन गोचर राखो देह नाथ के जल जलभरि नयन रघुराए ते गति पाई परहित सबस जिन के मन माहे तिन कहूँ जग दुर् तनु तनुजता जाहु मम धामा देव काह तुम पूरण का श्री रामचंद्र जी ने कहा हे तात शरीर को बनाए रखिए तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है ऐसा वेद गाते हैं वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं हे नाथ अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं? नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे हे तात आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है जिनके मन में दूसरे का हित बसता है समाया रहता है उनके लिए जगत में कुछ भी कोई भी गति दुर्लभ नहीं है हे तात शरीर को छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए मैं आपको क्या दूं आप तो पूर्ण काम है सब कुछ पा चुके हैं सीता हरण तात जने कहु पिता सन जाए जो मैं राम तकुल सहित कहीं दसानन आए हे तात सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी को न कहिएगा यदि मैं राम हूँ तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहाँ आकर स्वयं ही कहेगा